और कितनी ही बस्तियां ऐसी थीं जिन्हें मैंने मोहलत दी थी और वो जुल्म करती रहीं फिर मैंने उन्हें पकड़ में ले लिया और सबको आखिरकार मेरे पास ही लौटना होगा